और ये धौली गंगा है ये विष्णु गंगा है ये किसकी है निर्मम सत्य का दर्शन होता जिसका मालिक सिवाय परमात्मा के दूसरा कोई नहीं हो सकता जब ममता वाली चीज देखते हैं तो हृदय में ममता का उदय होता है और जब निर्मम वस्तु को देखते हैं तीर्थ यात्रा का महत्व क्या है थोड़ी तकलीफ सहने की आदत पड़े थोड़ी कुटुम्ब से अलग रहने की आदत पड़े नारायण थोड़ा संबंधियों से अलग होके व्यापार से अलग होकर थोड़ा निश्चिंत जीवन व्यतीत करें अब वहां भी जाते हैं तो फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं और वहां रिश्तेदारों की याद कर करके याद कर करके भगवान को तो भूल जाते हैं है? हमारी मम्मी के लिए ये चाहिए हमारी नानी के लिए ये चाहिए हमारी दादी के लिए ये चाहिए हमारी पड़दादी के इसलिए वहाँ भी अपने देह को दिखाने के लिए ही जाते हैं तो तीर्थ में जाने से वहाँ स्नान करने से ममता रहित वस्तुओं के दर्शन से हृदय पवित्र होता है तब महात्माओं की सेवा होती है और जब महात्माओं की सेवा होती है तो धीरे धीरे भगवान के बारे में सुनने को मिलता है और जब सुनने को मिलता है तब श्रद्धा श्रोता माने जो सुने उसमें सत्य की बुद्धि कि ये सच्ची चीज है उसके बाद उसमें रुचि हो जाती है अरे भाई ये चीज भी बढ़ जाती है क्योंकि मनुष्य चिंता से ग्रस्त रहता है ना दिन रात चिंता से ग्रस्त रहता है ये हमारे कई महात्मा लोग क्या करते हैं कि कोई आया मुझे को देख रहा शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ तो काम करते करते तो शरीर कड़ा हो जाता है जब पीला छोड़ते हैं तो थोड़ा आराम करता है फिर बोले देखो मन जहाँ जो करता है जहाँ जाता है जाने दो तुम सिर्फ देखते रहो तो मन में जो चिंता का बोझ होता है वो कम हो जाता है तो थोड़ा सुख मिलता है तो बोले वो वो योगा करने में तो बड़ा सुख है <laughs> तो ये अपने मन को जब फिकर से रहित करते हैं ना रुचि हो जाती है रुचि हो जाती है मन रस आता है स्वाद आता है एक नारायण एक आदमी है तो उसको पहले खाना नहीं खाता था तो दूध नहीं खाता था दूध नहीं पीता था सब तो बड़ा हो गया है हमारे सामने पैदा हुआ था तो दूध नहीं पीता उसको धीरे धीरे तरह तरह के बहाने करके जब दूध पिलाया गया तो दो तीन महीने चार महीने के बाद दूध में इतनी रुचि हो गई इतना रस आ गया कि अब उसको तो दूध के सिवाय दूसरी कोई चीज अच्छी न लगे आप सुन के देखिए तो नारायण भगवान की कथा में इतना रस है इतनी रोचक है हर लगे न फिर करे रज चौका आप कोई दक्षिणा मत दीजिए नारायण आप कोई भेंट मत कीजिए आप कोई चंदा मत कीजिए पर नारायण ये सब तो संसारी स्वार्थ की बात है आप खूब प्रेम से जहाँ जहाँ बक्ता ले जाए अपने मन को भगवान की उस लीला कथा में थोड़ी देर के लिए ले चलिए आप निश्चय रखिए आपकी दुकान का कोई शरीर में पीड़ा होती है बहुत है और काम में अपना मन पराधीन हो जाता है कि हमको तो नारायण उससे हमारा सुख तो वहां रखता है जैसे अपने घर पैसे को पराए घर में रखते हमको ऐसा मालूम है और कई कई उद्योगपतियों करोड़पतियों के बारे में अरब पतियों के बारे में मालूम है कि जब छापा पड़ने के डर से उन्होंने अपनी वस्तुएं विदेश में रख दे विदेश से लौट के लेना ये स्थिति है महाराज तो कामना जो है वो हमारे सुख को दूसरे के घर में ले जाके रखती है हमारा सुख को तो इस औरत में है इस धन में है इस मर्द में है अपने सुख को गिरवी रख देना किसी के घर में पराधीन बना देना उसका गुलाम हो जाना है अब लोग क्या है महाराज अपनी दरिद्रता का प्रदर्शन है हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए क्रोध क्या है तो हमारे दिल में आग लगी है ये दिखाना है तो जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हमारे मन में काम की आंधी नहीं आती लोभ की बाढ़ नहीं आती क्रोध की आग नहीं आती वो जल्दी हमारा हृदय शांत हो जाता है और जब हृदय चेत एतम स्थितम सत्र प्रसिद्ध से जैसे पानी में जब कोई गंदगी जल है तो गंदा हो जाता है जैसे सरोवर है अब एक सज्जन वहां गए महाराज हम सरोवर में अपना मुंह देखेंगे अब सरोवर में तो गंदलापन बहुत था और तरंग थी तो अपना मुंह कैसे दिखे यदि आप अपने को पहचानना चाहते हैं तो ये जो आपके हृदय का सरोवर है ना इस सरोवर में एक तो काम क्रोध की गंदगी नहीं चाहिए और एक चंचलता नहीं चाहिए फिर आप अपने आप को देख सकेंगे असल में हालत ये हो गई है कि हम दूसरों को तो देखते हैं परंतु अपने आप को नहीं देखते हैं दूसरे के घर में दूसरे की पूंजी की बात करते हैं उसके घर में इतना रुपया है जैसे आपको सावे दिखा गया हो झूठ मूठ की कल्पना करते हैं और अपने भीतर क्या है इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं है तो जब हृदय शुद्ध होता है तब अपने हृदय में अपनी परछाई पड़ती है अपना प्रतिबिंब पड़ता है उसमें भगवान की परछाई पड़ती है और एक निर्मलता एक प्रसन्नता आ जाती है और इस तरह महाराज जब मन में निर्मलता प्रसन्नता आती है तब ये जो हम जगह जगह आसक्त हो जाते हैं चिपक जाते हैं हमको ये चाहिए हमको ये चाहिए इसके बिना हम नहीं रह सकते ये भगवान आपको सच बताता हूँ एक करोड़पति एक बार हमको हमसे चालीस पैतालीस करोड़ रतनगढ़ में मिले वो कहते थे कि उस लड़की से अगर हमारी शादी नहीं होगी तो मैं कुएं में कूद के मर ऐसे बोलते थे उस लड़की से हमारी शादी होनी चाहिए नहीं तो मैं मर जाऊंगा अब देखो ऐसा उसके पास करोड़ों की संपदा बड़े बड़े मेल कारखाने और नारायण वो उसके मन की स्थिति ये तो मन में निर्मलता नहीं है आसक्ति छूट जाकर चिपको मत हम इसके बिना नहीं रह सकते हम इसके बिना नहीं रह सकते बस जहां तुमने अपने को जोड़ा इसके बिना नहीं रह सकते वही चीज तुमको गुलाम बना के पराधीन बना के और सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा दुख देगी जिसको शराब पीने की आदत पड़ जाती है लोग शराब पिलाकर उससे बुरा बुरा काम करवा लेते हैं उसकी की निकाल ले जानते हैं इसको जहाँ एक बोतल मिले और बस ये हमारी मुट्ठी में आया आजकल क्या नाम है ईमानदारी की भी कीमत हो को एक ने बताया इतना रिश्वत देंगे तो इनकी ईमानदारी देख सकते नारायण ऐसी स्थिति ऐसी स्थिति हो गई है तो अपनी ईमानदारी को आप बेचो मत किसी भी वस्तु के प्रति चीज के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति किसी जात के प्रति आदमी के प्रति आपके मन में इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि आप की आसक्ति आपको होगी तो दुनिया की जो आसक्तियां हैं वो मिट जाएगी फिर कोई आता है कोई जाता है कोई मरता है कोई जीता है कुछ मिलता है कुछ बिछोड़ता है इसमें आपके लिए कोई भेद नहीं रहेगा हर समय आप हर हालत जब आपके जीवन में कहीं आसक्ति नहीं रहेगी तब आप पहचान जाएंगे कि बिना आसक्ति की आसक्ति में हमको गुण बुद्धि हो जाती है जिससे हमारे मन में आसक्ति होती है मोहब्बत हो जाती है उसमें गुण ही गुण दिखते हैं और जिससे नफरत हो जाती है दुश्मनी हो जाती है उसमें दोष ही दोष दिखते हैं तो असल में किसी चीज में गुण नहीं होते हमारा प्रेम उसमें गुण दिखाता है किसी चीज में दोष नहीं होते हमारा हमारी जो नफरत है दुश्मनी है द्वेष है वो उसमें दोष दिखाता है तो आपको ये सोचना चाहिए कि हमारा हृदय इससे इतनी नफरत या इतनी मोहब्बत करके इसके साथ फंस क्यों रहा है तो जब कहीं फंसता नहीं है सिर्फ निर्बल होता है उस समय सब चीज इसको भगवान लिखते हो भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संघर्ष से जा रहे थे फिर तो दुनिया में न कोई अच्छा है न बुरा है सबके साथ सद्भाव है सबके साथ एक रास्ता है जन्म और मरण एक साथ है मेरे एक साथ समाज है मिलना और बिछोड़ना ये दोनों जो है एक समान है मिलना और बिछोड़ना तत्व विज्ञान हो जाता है तो तत्व विज्ञान की ये ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव हो जाता है उससे क्या होता है विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया क्षीयते चास्य कर्माणी तस्मिन दृष्टे बराबरे बड़ी से बड़ी चीज जिसको हम समझते हैं वो परमात्मा से छोटी होती है और जब उस परमात्मा का दर्शन हो जाता है तो दुनिया की जो छोटी छोटी चीजें हैं उनमें हमारे दिल की गांठ नहीं लगती हम उनके साथ बनते नहीं चिपकते नहीं निर्भय होकर के निर्बल होकर के सब काम करते हैं है नहीं तो ये न छूट जाए ये न टूट जाए ये न मिट जाए जहाँ परमात्मा का बोध हुआ जीवन में निर्भयता आ गई विद्यंते विद्यते हृदय ग्रंथे दिल की गांठ काम की गांठ किसी की इच्छा किसी के साथ हम इच्छा से बंधे हुए हैं किसी किसी के साथ हम लोभ से बंधे हुए हैं किसी के साथ दुश्मन के साथ क्रोध से बंधे हुए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की भी गांठ बिल्कुल छूट जाती है हृदय की गांठ खुल जाती है और अज्ञान से जो संशय मन में होता है कहीं ऐसा न हो जाए कहीं ऐसा न हो जाए कहीं ऐसा न हो कहीं ऐसा न हो ये सारे संशय कट जाते हैं और जन्म जन्म के जो कर्म है इस जन्म के जो कर्म है जिनका भोगने के लिए हमको संसार सागर में भटकना पड़ता है वे सब के सब कर्म क्षीण हो जाते हैं और मनुष्य मुक्त हो जाता है इसलिए श्रीमद भागवत का साथ क्या है कि यदि मनुष्य के जीवन में समझदारी है तो वही कवयो नित्यम भक्ति परमया मुदा वासुदेव भगवती गुरबंत्या प्रसादनी इसलिए जो समझदार आदमी है जो और भविष्य के रहस्य को जानते हैं क्या हुआ और आगे क्या होगा और इस समय क्या हो रहा है वे हमेशा ही अपने मन को भगवान के साथ जोड़कर भविष्य के लिए भगवान पर विश्वास करते हैं नारायण भूत को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं वर्तमान को में भगवान को देखते चलते हैं उनको सब जगह परमेश्वर का दर्शन होता है और आनंद में भरे रहते हैं छड़कते हुए चलते हैं वो जो बोलते हैं उसी का नाम संगीत हो जाता है वो और वो जो चलते हैं उसी का नाम नृत्य हो जाता है प्रेम में भरकर चलो नाचते हुए चल रहे हो और प्रेम में भरकर बोलो गाते हुए चल रहे हो जिसको छू दो उसमें रस का संचार हो जाए वो सुखी हो जाए जिसके ऊपर तुम्हारी नजर पड़े तुम्हारे दिल का सुख उसके ऊपर बरस पड़े जिसको देख करके तुम मुस्कुरा दो वो बाग बाग हो जाए अपने जीवन को ऐसा मठ ऐसा चिंतामणि बनाओ ऐसा कल्प वृक्ष बनाओ ऐसा कामधेनु बनाओ ऐसा भगवान मैं बनाओ कि तुम्हारा जीवन सबको सुख देता हुआ सबको रस देता हुआ चले ओ अब आप लोग बैठे रहो आपकी हो हाँ, अब आप आपकी Glory, glory, glory. trabalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar.